ओम का तीन बार उच्चारण करेंगे प्रेमी सज्जनों पिछले दो दिनों से हम प्रार्थना और प्रार्थना से जो सहायता प्राप्त होती है ईश्वर से उस विषय में कुछ ऊहापोह प्रमाण युक्ति तर्क देख रहे हैं पीछे जो कुछ बातें पहले प्रार्थना शब्द के रूप में मैंने बोली है शिविर के अंदर भी और इस आध्यात्मिक चिंतन के क्षण में भी जो प्रार्थना एक शीर्षक है और अभी इन दिनों में जो और चिंतन हुआ जो बात कल आपके सामने मैंने रखी थी वो ध्यान में रखते हुए कामना और प्रार्थना इन दो को हमें अलग अलग देखना चाहिए और पीछे जो मैंने प्रार्थना शब्द से जो बातें रखी थी वो कामना वाली प्रार्थना कामना को भी प्रार्थना शब्द से कहा जाता है और वो प्राय उस संदर्भ वाली थी और उस सारे प्रतिपादन में ये था कि हमारी प्रार्थना तब सफल होती है जब वैसा हमारा कर्माशय भी हो तो जो कामना वाली प्रार्थना है उस विषय में तो अभी भी मुझे वही ठीक लगता है जो सामान्यतः हम कामनाएं इच्छाएं करते रहते हैं और उसको प्रार्थना का रूप दे देते हैं वो कर्माशय के अनुरूप ही परमात्मा पूरी करेगा अभी जिस प्रसंगवशात जिस वाक्य का महर्षि के वचनों को जो हम देख रहे हैं उनकी जो प्रार्थना की विशिष्ट परिभाषा है उसके संदर्भ को महर्षि के वचनों को देखने से ये स्पष्ट होता है कि ये प्रार्थना पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो की जा रही है सामर्थ्य के उपरांत की जा रही है और इसमें जो ईश्वर की सहायता मिल रही है ये कर्म निरपेक्ष होनी चाहिए ये सहायता एक भिन्न बात है ये प्रार्थना भी एक विशिष्ट प्रकार की प्रार्थना है जो पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में की जाती है और जो प्राय करके मैं पीछे बोलता रहा हूं मानता रहा हूं वहां जो प्रार्थना शब्द था वो कामना वाला प्रार्थना शब्द लेना चाहिए वो कर्माशय के अनुरूप होगा जो कर्म हम कर चुके यानी पुरुषार्थ कर चुके और वो हमारे कर्माशय में है अब हमारी कुछ कामनाएं हैं मेरे जीवन में ये हो ये हो ये हो और हम परमात्मा से प्रार्थना करने लग जाते हैं ये प्रार्थना कामना मात्र है कामना की प्रधानता वाली प्रार्थना है ये और ये कर्माशय के अनुरूप होनी चाहिए परमात्मा कर्माशय के अतिरिक्त हम हम कुछ भी मांगे और वो दे देगा ऐसा नहीं होना चाहिए ईश्वर न्यायकारी है उन सब दृष्टियों को देखते हुए सिद्धांतों के अनुरूप वो जो पीछे प्रार्थना और कामना थी उसमें महर्षि की जो ये प्रार्थना की परिभाषा है इसका ये अंश उसमें नहीं हो पाया है इसको अलग से हम लें तो अभी हमारा विचार का विषय ये प्रार्थना है जो महर्षि ने बताई है पूर्ण पुरुषार्थ के बाद और इसमें ईश्वर की सहायता को भी चूंकि महर्षि दयानंद कह रहे हैं आप तो पुरुष कोई बात को कह रहा है तो ये व्यवस्था भी हमें स्वीकारनी चाहिए और इस व्यवस्था को स्वीकारने से कोई ईश्वर की न्याय व्यवस्था भंग होती हो ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि ये सबके लिए है हर आत्मा के लिए है ये एक अतिरिक्त अवसर है कि हम प्रार्थना करके ईश्वर की सहायता को प्राप्त कर सकें ईश्वर हमारी सहायता करता है तो ये मान करके कि ये सहायता होती है कर्म निरपेक्ष अब हमारी आगे की बातें अवशिष्ट हैं कि ईश्वर की प्रार्थना करने पे क्या अतिरिक्त सहायता वो देता है और देता है तो किस रूप में देता है ये बातें अभी हमें और विचारनी है महर्षि के वचनों के आधार पे जो मैं समझ पा रहा हूं वो मैं आपके सामने रख देता हूं और आप लोग विचार के आए हो आप पहले रखना चाहते हो तो वो भी आप लोग भी रख सकते हैं अथवा मैं बोल लू उसके बाद में भी अपना विचार रख सकते हैं एक तो महर्षि ने सत्या प्रकाश के स्वमंतव्य अमंतव्य में जो बात रखी उसमें उन्होंने प्राप्ति के संदर्भ में क्या लिखा मैं पूरी पूरा वाक्य पढ़ता हूं प्रार्थना अपने सामर्थ्य के उपरांत ईश्वर के संबंध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं जो सहायता प्राप्त हो रही है वहां महर्षि ने विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है और आदि भी लगाया हमें जो दिक्कत थी ईश्वर की सहायता प्राप्त होने में कि सीधे वो रोटी नहीं देगा सीधे वो कपड़े नहीं देगा ये तो हम सब मानते हैं ऐसा संभव भी नहीं है ईश्वर ऐसा नहीं करता है स्वयं सीधा नहीं करेगा हाँ ईश्वर विज्ञान देता है ज्ञान देता है ये हमको वैसे भी स्वीकार्य है वो हमारी बुद्धि में सीधे दे सकता है ऋषियों को भी आदि सृष्टि में दिया था और बाद में भी अभी देता है दे सकता है और इसे स्वीकारने में कोई सिद्धांत हानि नहीं होती है क्योंकि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में प्रार्थना की जा रही है चूंकि सामर्थ्य के उपरांत प्रार्थना की जा रही है तो परमात्मा हमारी सामर्थ्य को बढ़ाए और उन सामर्थ्यों में भी बुद्धि की सामर्थ्य को बढ़ाए ज्ञान दे करके अथवा बुद्धि में सात्विकता को बढ़ा करके सक्रियता को बढ़ा के तमोगुण को कम करके ये अंदर वो नियंत्रण कर सकता है इस रूप में वो हमारी सामर्थ्य को बढ़ा दे हम जितना कर सकते थे हमने कर लिया हम जितना दिमाग लगा सकते थे लगा लिया अब कुछ नहीं सूझ रहा है जहां देखना था जहां पढ़ना था ऊहा पोह करनी थी सब कर लिया अब प्रार्थना करी परमात्मा से तो ज्ञान के रूप में विज्ञान के रूप में और मन की बुद्धि की स्थिति ऐसी बने कि हम हमारा सामर्थ्य बढ़ जाए और उस सामर्थ्य के बढ़ने से फिर हम कुछ और कर पाए तो ये सामर्थ्य का बढ़ना हमारी ये प्रार्थना महर्षि जिस ढंग से लिख रहे हैं पूर्ण पुरुषार्थ के बाद थकने के बाद अपने सामर्थ्य को प्रयोग कर चुकने के बाद की जा रही है एक विशेष स्थिति है उसमें इस तरह से सामर्थ्य का बढ़ना उसमें विज्ञान शब्द महर्षि का सीधा प्रमाण है और इस जैसी दूसरी चीजें भी हम ले सकते हैं हमारा धैर्य चुक रहा है तो धैर्य की प्राप्ति हो गई पुरुषार्थ के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो हमारी विच हमारे में विचलन है चंचलता अधिक है रजोगुण अधिक है तो सात्विक स्थिति बना के वहां भी प्रार्थना करने पे हमें शांति की संतुलन की कुछ प्राप्ति है इस रूप में सामर्थ्य की वृद्धि हम मान सकते हैं एक बात दूसरा इस तरह के सहयोग बहुत जीवन में घटते रहते हैं इसके उदाहरण आप लोगों के भी जीवन में होंगे बहुतों के बहुत बोलते रहते हैं कि मैंने ईश्वर से ये प्रार्थना की और थोड़ी ही देर में कुछ घंटों में या कुछ दिनों में वो वैसे के वैसी पूरी हो गई कोई व्यक्ति आया और उसने पूर्ति कर दी इसकी पीछे भी चर्चा हुई संकेत किया इसमें हमें मानने में क्या दिक्कत आती है कि ईश्वर किसी को भेज करके ऐसे करवाए हमें सहायता दिलवाए वो हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ईश्वर इस तरह से यूं चलाता नहीं है और अगर ऐसा माना जाए तो कर्म करने की स्वतंत्रता का सिद्धांत बाधित होता है खंडित होता है उसे हमें खंडित नहीं करना है वो बहुत अटल सिद्धांत है उसके खंडन करने में उसको खंडित करने में इसको सिद्ध करने के लिए उसको खंडित करना स्वीकार्य नहीं हो सकता बहुत दोष आ जाएंगे दूसरे लेकिन ऐसी बातें जीवन में घटती बहुत रहती हैं कुछ वास्तव में होती हैं कुछ व्यक्ति समझ लेता है दोनों तरह की बातें होती हैं बिल्कुल वो कि वो चीज जो हम चाहते हैं जितनी मात्रा में चाहते हैं वैसी की वैसी एकदम से आ जाती है बहुत सारी घटनाएं लोग कहते हैं एक व्यक्ति ने घटना की प्रश्न रखा कि जी ये कैसे हो गया परमात्मा ने मेरे को भेजा बोले मैं यात्रा में था और कुछ पता नहीं जेब कट गई थी या पैसे समाप्त हो गए थे और फिर अपने गुरुकुल तक पहुंचना था तो कितने कुछ सवा सौ डेढ़ सौ या कितने रुपए बताए मेरे को ध्यान नहीं बोले उतने रुपए की मेरे को आवश्यकता थी अब मैं सोच सोच रहा था कि मैं क्या करूं टिकट कैसे लू बिना टिकट के जाऊं कैसे करूं ये उधेड़बुन में था ऐसे ही ट्रैक्टर पर बैठ के जाऊं कुछ ऐसी जुगाड़ से कर रहे थे तो उतने में बोले एक परिचित व्यक्ति आ गया थोड़ी सी देर में मेरे पास आया हालचाल पूछे और वैसे ही जेब में हाथ डाल करके कहा कि लो ब्रह्मचारी जी ये डेढ़ सौ रूपये जितने थे ये ले लो बस ऐसे ही उतने उतने रूपये निकाल के उसने दे दिए वो अब इसको संयोग कहो इतना आश्चर्य लगता है कि ये वैसा ही कैसे हो गया ये मैं परेशान था और मैं कर रहा था कि कैसे जाऊं बिना टिकट के जाना भी नहीं चाहता था और जाना भी है मेरे को क्या करूं किससे मांगू और अचानक ये मिल गई तो जैसे कि परमात्मा ने मेरी प्रार्थना सुन ली और उस परमात्मा ने मेरे को मेरे पास उस व्यक्ति को भेज दिया ऐसी वो प्रार्थना कर रहे थे भक्त लोगों के मन से निकल जाती है उसको चाहे आप कामना कह लें चाहे प्रार्थना कह लें उन्होंने जो एक बात बताई और ऐसा अनेक बार मेरे को भी लगता रहता है अपने जीवन में और आप में से भी कईयों को लगता होगा उसको प्राय हम संयोग कह के भी हटाते हैं अब जो ये एक आक्षेप हमारे मन में रहता है एक संदेह पैदा होता है कि यदि परमात्मा भेज रहा है तो फिर कर्म की स्वतंत्रता कहां रही है परमात्मा ने वो काम करवाया उससे ये हमें स्वीकार नहीं होता है लेकिन इसको यदि हम यूं देखें इन घटनाओं को कि परमात्मा ने उससे ये काम करवाया नहीं परमात्मा ने उसको भेजा नहीं जाओ और इतने रुपए उसको दे के आओ ऐसा वो नहीं करवाता और ना उसने यहां भी करवाया लेकिन परमात्मा प्रेरणा तो दे सकता है मन में प्रेरणा तो दे सकता है ये तो हम स्वीकार करते ही हैं हमारे को भी प्रेरणा देता है हमें भी विज्ञान आदि देता है हमें स्वीकार ही है तो परमात्मा ने प्रेरणा दी उस प्रेरणा को स्वीकार करना न करना ये हमारे ऊपर फिर निर्भर है अब यदि उस प्रेरणा को अंदर से कुछ प्रेरणा हुई भाई उस व्यक्ति को देना चाहिए या एक भाव हुआ किसी को देख करके हाँ इसको तो दे देना चाहिए इसको तो सहयोग करना चाहिए अथवा वैसे ही भाव बना कि भाई ऐसा कुछ सहयोग आदि का तो ईश्वर की परोक्ष प्रेरणा कुछ अच्छा काम करने की भावना जग गई देने की भावना जग गई ऐसा केवल प्रेरणा के रूप में और मनुष्य ने उसको स्वीकार किया अपनी स्वतंत्रता से परमात्मा ने बाध्य नहीं किया उसको उस कार्य के लिए परमात्मा की तरफ से प्रेरणा या मानसिक स्थिति बनी और उस व्यक्ति की स्वतंत्रता फिर भी है न चाहे तो न भी स्वीकार करता और स्वीकार भी कर लेता तो ऐसे एक को या कईयों के मन में मान लो प्रेरणा दे दी हो गई कि किसी को सहयोग हो अब उन लोगों ने किसी ने स्वीकार भी कर ली किसी ने कम सहयोग किया किसी ने अधिक किया किसी ने नहीं भी किया अगर हम ऐसा मान लें तो ये जो बहुत सारी घटनाएं होती हैं और अनेक बार ये लगता है कि ये केवल संयोग नहीं है संयोग से अतिरिक्त भी कुछ है ये तो ऐसे संदर्भों में हम ईश्वर की सहायता का मिलना इस रूप में स्वीकार कर लें तो उससे कर्म की स्वतंत्रता का सिद्धांत भी खंडित नहीं होता वो व्यक्ति स्वतंत्र था चाहे तो आता चाहे तो ना आता वहां ये नहीं दोष आएगा कि परमात्मा की प्रेरणा व्यर्थ हो गई निष्फल हो गई परमात्मा तो सदा प्रेरणा कह करता ही रहता है हमारे अंदर भी हम भी तो उसको निष्फल और सफल करते रहते हैं हम बहुत बार मानते हैं स्वीकार करते हैं कई बार नहीं भी करते हैं हमें पता तक नहीं लगता हम उस तरफ ध्यान तक नहीं देते बहुत बार अंदर की प्रेरणा से पर बहुत से व्यक्ति इस तरह की घटनाएं भी बताते हैं इसी संदर्भ में देखो परमात्मा ने कितनी सहायता की वो बहुत जगह अतिशोक्तिपूर्ण और अस्वीकार्य भी होती है वो भक्ति के अतिरेक में की जाती है ऐसा भी बहुत होता है इसलिए हर घटना को इस रूप में भी नहीं ले लेना चाहिए बहुत सावधानी रखने की बात है अभी की घटना एक बताता हूं आपके सामने यहां आने से एक दिन पहले तो ऋषि उद्यान में एक व्यक्ति आए हुए थे ईमानदार व्यक्ति हैं बड़े अधिकारी बोले ईश्वर बहुत सहायता करता है हमारी ईश्वर बहुत सहायता करता है ये प्रसंग चल रहा था वो अपनी तत्काल की घटना सुनाने लगे कुछ दिन पहले की <laughs> नाम की कोई आवश्यकता नहीं है वो एक उदाहरण हो सकते हैं लेकिन इस तरह के उदाहरण बहुत हमारे बनते रहते हैं ये तो संयोग से अभी अभी का है और इसलिए मैं आपके सामने उसको बता रहा हूं नहीं तो ऐसी बहुत बातें होती रहती हैं और वो इसलिए भी बता रहा हूं कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं गुरुकुल का पढ़ा हुआ इतना बड़ा अधिकारी आर्य समाज का भक्त सिद्धांतों को कठोरता से स्वीकारने और मानने वाला सिद्धांतों पर चलने वाला बहुत कठोर जीवन जिसने ईमानदारी का जिया हो ऐसा व्यक्ति तो सामान्य व्यक्ति तो यूं ही मान लेता है लेकिन भक्ति के अतिरेक में क्या होता है तो मैंने उनको भी कहा उनकी घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं आप भी स्वयं विचार सकते हैं कि क्या ऐसा ईश्वर सहायता करता है तो बोले कि मैं अपने कार्यालय में था और मेरे पास एक दूरभाष आया वो अभी टैक्स विभाग में कर विभाग में कमिश्नर हैं राजस्थान के यानी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं कमिश्नर रह चुके हैं कलेक्टर कमिश्नर और अभी वरिष्ठ अधिकारी हैं पूरे राजस्थान का कर विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो है वो बोले मेरे पास फोन आया कि फला फला व्यक्ति का टैक्स का कुछ वो इस विवाद है उसको उसको आपको आज ही निर्णय देना है आज ही निर्णय दीजिए जैसे राजनीतिक दबाव आते हैं और अधिकारियों के दबाव आते हैं होता रहता है प्रशासन में ये सब उनको पता है लोगों को ये ऐसा काम नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनके पास आया अब उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं यद्यपि तो बहुत कठोर है वो मानते नहीं है किसी बात ऐसी दूसरों की रिश्वत लेने की तो कोई बात ही नहीं है ऐसे भी कह करके भी नहीं होते उचित होता है तो कर देते हैं नहीं तो नहीं करते मतलब क्या करूं आज का आज ही आप उसको निपटाना है कोई बहुत बड़ा मामला था करोड़ों रुपयों की कोई बड़ी बात थी उसको निपटाना था तो बोले मेरा तो मन नहीं मान रहा था कि मैं इसको करूं लेकिन असमंजस में था कि इसको करूं कैसे उनको भी कैसे मना करूं वो बुरा मानेंगे ये करेंगे क्या करूं तो बोले देखो परमात्मा कैसे सहायता करता है कि थोड़ी देर में सूचना आई कि वकीलों ने हड़ताल कर दी है अब वकीलों ने हड़ताल कर दी तो वो केस ही नहीं चलेगा यानी तो उसी दिन निर्णय करने की बाध्यता ही नहीं रही मैं सोच ही रहा था कार्यालय में जाता जाता कि क्या करूं इस विषय में फाइल को मंगा के अभी करूं या जिसका क्रम है उसको करूं और एक फाइल आई है तो एकदम तो नहीं होता उस पर विचार होता है कुछ अगली तिथि मिलती है डेट मिलती है तो कुछ आगे आगे होता है बोले तो उतने में सूचना आई और मेरे को बिल्कुल जो झंझट था मेरे मन में कि क्या करूं एकदम समाप्त हो गया परमात्मा ने सहायता की और वो सेठ फिर शाम को आया और नमस्ते करके झुक करके और मैंने फिर अगली तारीख दी उसको जो जिस दिन मैं यहां आना था तो मेरे को भी विचार का अवसर मिलेगा मैं केस को भी पढ़ लूंगा पूरा तो अगली तारीख दी वो सेठ आया और खूब प्रणाम करके बहुत धन्यवाद देते हुए मेरे को गया मैंने उनको कहा जी कि जिस समय आप ये प्रार्थना विचार कर रहे थे हड़ताल उससे पहले से निश्चित हो गई थी या उसके बाद में हुई थी हड़ताल की प्रक्रिया पहले से चल रही थी सूचना उनके पास में बाद में आई कि हाँ हड़ताल बंद हो गई है यदि हमारी प्रार्थना के कारण से पूरे वकीलों के यानी अजमेर के जो वकील हैं इससे संबंधित वो सारा सारा कोई संगठन कोई आंदोलन चल रहा होगा कोई मांग होगी उनकी जिसलिए हड़ताल हुई उनकी हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए हमारी प्रार्थना को पूरा करने के लिए उन सब की हड़ताल हुई और ये सब हुआ तो ऐसी स्थितियां मेरे को तो नहीं समझ में आती हैं कि भाई ये ईश्वर ने करवाया होगा और ईश्वर की जो प्रेरणा होकर के हमारे अनुकूल काम हो जाता है अन्यों से वो भी यहां पर तो नहीं घट सकता क्योंकि कारण कार्य संबंध भी तो होना चाहिए भी हमने प्रार्थना कब की और वो पहले से मान लो है तो उसका संबंध हम नहीं मान सकते ये संयोग मात्र इसको संयोग मात्र लेकिन भक्त लोग ऐसी स्थितियों में प्राय करके ये मानते हैं कि देखो ईश्वर ने कैसी सहायता की और अच्छे काम की छोड़ दीजिए बुरे कामों में भी जो उनके गलत कार्य होते हैं उसमें भी जब वो फंसते फंसते बच जाते हैं तो ये कहते हैं ईश्वर ने कैसी सहायता की जबकि ये शत प्रतिशत है कि इसका कोई अपवाद नहीं मिलेगा ईश्वर गलत कार्य में सहायता कैसे कर सकता है मनुष्य अच्छे से अच्छा मनुष्य कभी कर दे गलती से समझ में आता है किसी महापुरुष ने ऐसी गलती कर दी हो समझ में आती है मनुष्य है कितना भी बड़ा है लेकिन ईश्वर ऐसा करेगा ये स्वीकार्य नहीं हो सकता तो ईश्वर की सहायता प्रार्थना से मिलती है ये तो हमें मानना होगा महर्षि के वचन से शब्द प्रमाण को का हम उल्लंघन नहीं कर सकते कितने ही तर्क कर लो न्याय दर्शन में भी जो आया वो तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता हम कर सकते हैं तर्क कर सकते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है लेकिन शब्द प्रमाण है वहां हमें हमारे सारे तर्क एक तरफ रखने पड़ेंगे कुछ भी हमारा निर्णय आ रहा हो शब्द प्रमाण है वो तो होगा हमारी समझ कुछ गलत है हम उस व्यवस्था को अवकाश को माने अपवाद रूप में है भले ही परमात्मा कर्म के अनुसार देता है ये व्यापक रूप से बिल्कुल ठीक है लेकिन उसके बाद भी एक व्यवस्था यदि इस स्थिति के लिए हो कि वो प्रार्थना करने पे सहायता देता है और शब्द प्रमाण कह रहा है तो उसने अवकाश में हम स्वीकार कर सकते हैं और इस अपवाद से वो सिद्धांत खंडित नहीं होता कि ईश्वर कर्म के अनुसार देता है हमें सब कुछ अधिकांशतः कर्म के अनुसार ही देता है वो न्यायकारी ही है और ये इस तरह की सहायता देता है उससे भी ईश्वर का न्याय खंडित नहीं होता वो सबके लिए समान रूप से है जो जो इस तरह करेगा उसको देगा तो हमारे को विज्ञान आदि दे करके हमारी सामर्थ्य को बढ़ा करके इस रूप में सहायता न कि इस रूप में कि हम जिस फल की कामना कर रहे हैं वो फल हमारे को दे देगा दोनों में अंतर है क्योंकि सामान्यतः जब हम देखते हैं कि पुरुषार्थ के बाद ईश्वर सहायता करता है तो हमने प्रार्थना क्या की थी उस वस्तु की जिसकी प्राप्ति के लिए हमने पूर्ण पुरुषार्थ किया था तो एक तो ये माने कि उस वस्तु को वो दे देता है स्वयं तो देगा नहीं ये मान के ही चल रहे हैं हम दूसरे के माध्यम से आ सकती है कि उसने उसको प्रेरणा दे दी और इस तरह की स्थितियां बन गई कि हमारे को वो वस्तु मिल गई एक वो पक्ष है और दूसरा हमारी विज्ञान आदि महर्षि के विज्ञान शब्द को संकेत लेते हुए उससे हमारी सामर्थ्य ऐसी बढ़ेगी कि हम उस वस्तु को फिर पा सकेंगे और पुरुषार्थ कर सकेंगे इस रूप में इस बात इस तरह से स्वीकार करने का मेरा झुकाव अभी बना हुआ है यद्यपि और ये विचारने का विषय है ये गंभीर विषय है इसमें बहुत सारे छोटी छोटी बातें और हो सकती हैं आपके भी किसी के मन में कोई बात आ रही है इसमें इससे और परिष्कृत रूप में हम इसको रख सकते हैं इसमें कहीं किसी अंश में हमें कोई सिद्धांत खंडित होता हुआ दिखता है तो उस पर और विचार करके इसको किया जा सकता है तो मैंने तो अपनी तरफ से संक्षेप सार रूप में ये बात को रखा है आप में से जो भी इस विषय में कुछ कहना चाहते हो तो स्वागत है उनका सुमदेव जी इसका प्रश्न ये है कि जो दो घटनाएं मैंने रखी उनमें दोनों व्यक्तियों ने क्या अपना अपना पूर्ण पुरुषार्थ किया था बाद वाली घटना में तो स्पष्ट है उन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया मैंने ये घटना किस रूप में दी है कि जो अन्यों से सहयोग प्राप्त होता है उसको हम प्राय मान लेते हैं कि ईश्वर के द्वारा किया गया है है नहीं ये प्रतिपादन करने के लिए मैंने नहीं कहा ईश्वर का सहयोग हो सकता है दूसरों के माध्यम से लेकिन ईश्वर उनको केवल प्रेरणा देगा बलात् वो भेज दे ऐसा समझ में नहीं आता है अभी ठीक है पर ये जो उदाहरण था वो मैंने इसलिए दिया था कि लोग ऐसा समझ लेते हैं जो कि ठीक नहीं है और जो पहला वाला उदाहरण था वो मैंने इस बात को बताने के लिए दिया कि हमें ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं जहां ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा ने इनको भेजा हो और वैसा का वैसा जो आवश्यकता थी इत्यादि पूर्ति हुई लेकिन वो प्रतिपादन मेरा ये नहीं है कि वो पूर्ण पुरुषार्थ उन्होंने किया और फिर प्रार्थना की और ये अतिरिक्त सहायता आई ये कामना वाली प्रार्थना भी हो सकती है उनकी और वो उस ढंग से पूर्ति हो गई क्योंकि ये कामना वाली प्रार्थना में भी होता है कि परमात्मा कैसे सहायता करता है एक हमारी गोष्ठी में भी परिचर्चा के लिए एक विषय ये आया था कि ईश्वर जन्म के समय जो सहायता देता है यानी शरीर आदि दे दिया परिवार दे दिया बुद्धि दे दी जो भी दे दिया उसके बाद में जीवन काल में वो किस ढंग से सहायता करता है हमारी एक बहुत ये भी अनुत्तरित जैसा प्रश्न है कैसे पता लगे कि क्या देता है ईश्वर बीच बीच में देता है या नहीं देता है अथवा जन्म के समय जो देना था वो दे दिया बाद में कुछ नहीं देता है कर्मफल के संबंध में एक बड़ा प्रश्न है विचारने का प्रश्न है मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि इस बार की वैदिक आध्यात्मिक परिषद के लिए विषय स्वीकृत हो गया या नहीं हो गया विस्मृत हो रहा है लेकिन ये विचार के लिए था ये पूरे सत्र के लिए भी मैं भी अगर ये निर्णित हो जाए तो एक बड़ा विषय है हो सकता है हमारे को इस बारीक की गोष्ठी में इस विषय में सुनने को मिले ये दो उदाहरण मैंने दिए और उनका पुरुषार्थ तो बस इतना ही है कि उन्होंने देखा कोई मिल नहीं रहा किससे मांगू क्या करूं कुछ कर नहीं सकता बस इसी उसमें थे तो कोई पुरुषार्थ वाली बात नहीं है लेकिन इसके उदाहरण कुछ और हो सकते हैं वास्तव में कि जो हमने पूर्ण पुरुषार्थ किया सफलता नहीं मिली और शांत होकर के हमने प्रार्थना की एक पंक्ति और भी आती है न ऋते श्रांत सख्याय देवा जब तक मनुष्य थक नहीं जाता श्रांत नहीं हो जाता तब तक देवता सहायता नहीं करते न रीते श्रांत सख्याय देवा ये वही बात है पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में या तो अपने सामर्थ्य के उपरांत वो थक गया है तत् कब है व्यक्ति जब आप कर नहीं पा रहा है जितना करना था कर लिया तब देवता देवताओं की सहायता प्रारंभ होती है इसको दूसरे लौकिक दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि व्यायाम करने से जो सामर्थ्य बढ़ती है वो किन की बढ़ती है जो कर, इतना करते हैं जो थक जाते हैं जो थक गए उससे भी थोड़ा ज्यादा क्या फिर और करते हैं तो और ज्यादा ज्यादा ज्यादा उनकी सामर्थ्य बढ़ती जाती है इंद्रियों की सामर्थ्य शरीर की सामर्थ्य बुद्धि की सामर्थ्य कम कम में नहीं बढ़ती है थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे तो बस काम चलता रहेगा वो बढ़ेगी नहीं किसी की भी संगीत का अभ्यास हो चित्रकारी का अभ्यास हो वो थक करके भी करता रहता है करता रहता है वहां विशिष्ट योग्यताएं आनी शुरू होती हैं नहीं तो विशिष्ट योग्यता नहीं आती है सामान्य चलता रहेगा न रिते शांत सख्या देवा तो वो उदाहरण अलग हो सकते हैं उसके हाँ और पूछिए आप थोड़ा तेज बोलो मेरे ख्याल से बहुत कम को सुनाई देता है मैं तो आवृत्ति कर ही दूंगा लेकिन आपके ही मुख से सीधा सीधा सुनाई दे तो अच्छा है तीन चार वर्ष प्रार्थना के विषय में देखने को एकम पूर्ण पुरुषार्थ की एक एकमात्र पुरुषार्थ करते हुए और एक एकमात्र श्रेष्ठ कामों के लिए वैसे भी प्रार्थना की जा सकती है और एक ऐसे भी हो सकता है कि श्रेष्ठ काम भी नहीं है पुरुषार्थ भी नहीं है पूर्ण पुरुषार्थ भी नहीं है लेकिन प्रार्थना तब भी कर सकते चार मत मन से और सबसे नीचे की जो संग्रह उपासना सिखाते हैं आचार्य उन्हें संस्कार होता है बच्चे को संध्या उपासना सिखाते हैं तो वो संध्या उपासना आचार्य करता है प्रार्थना संगीत उसका कोई आपको यहाँ आमंत्रित करूं मैं क्योंकि यहाँ तो फिर भी है ये भी सब चल रहा है और ये हम वेबसाइट पे भी चढ़ाते हैं सब औरों को भी सुनने को रहता है वो वो वो सुनते हुए परेशान होंगे <laughs> कि देखो बोल रहे हैं चलो मैं आवृत्ति करूंगा हम्म। और एक जगह लिखा है पोशाक करते हुए मनुष्य का सहाय दूसरे लोग भी करते हैं ऐसे परमेश्वर भी करता है मन पुरुषार्थ करते हुए परमेश्वर सहाय करता है प्रार्थना और एक बात पूरी करो फिर मेरे को ऐसा छोड़ो कि मैं आपकी बात को पूरी दोहरा सकू <laughs> आपने तो बोल दिया और मैं मेरी सामर्थ्य पूरी हो गई है चलो आप सहायता करोगे मेरे को जब कमी होगी मेरे को बोलूंगा तो बोलो हम्म। प्रार्थना का सीधा सीधा सारे का कम नहीं शायद वो पिछले वर्ष में चार लाख तो हम जिले में कर्मान करना आत्मा अत्यंत बेटी का चार फल हम्म। सीधा सीधा सारे ठीक है मैं आपकी बातों को धराता हूं फिर इन्होंने कहा कि पुरुषार्थ के बाद में जो प्रार्थना होती है ये भी महर्षि ने कहा प्रार्थना के विषय में कई बातें महर्षि ने लिखी एक तो पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में या सामर्थ्य के उपरांत एक ही बात हो गई एक पुरुषार्थ को करते हुए वो प्रार्थना करने की बात लिखते हैं और उसमें सहायता का मिलना भी कहते हैं जो इन्होंने बाद में रखी बात और कार्य के प्रारंभ में भी प्रार्थना की बात करते हैं जिससे कि हमारा वो कार्य सफल हो और सामान्यतया वैसे भी प्रार्थनाएं की जाती हैं और वो करने की बात भी है आर्यभिविनय विनय में भी बहुत सारी प्रार्थनाएं ये की गई हैं तो ये जो तीन या चार स्थितियां हैं एक पूर्ण पुरुषार्थ के बाद एक पुरुषार्थ करते हुए एक पुरुषार्थ के प्रारंभ में ये तीन ये हो गई और एक वैसे ही जो हम कुछ प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ही हो ऐसा महर्षि का तात्पर्य नहीं अनेक जगह ये सब प्रार्थनाएं हैं तो ये प्रार्थनाएं सब जगह हो सकती हैं और हम भी लोग करते रहते हैं संध्या का भी आपने बताया तो ये सब चीजें चलती रहती हैं की जा सकती हैं उसमें कोई दोष नहीं है ठीक है और आपने बात रखी कि स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में जो प्रार्थना का मैं एक वाक्य बोल रहा था नहीं इसमें नहीं आर्योदेश्वर रत्नमाला में है वो प्रार्थना का फल आर्योदेश रत्नमाला में प्रार्थना भी एक बिंदु में लिखा यानी चौबीसवां और पच्चीसवें में प्रार्थना का फल करके भी लिखा हुआ है तो अगली बात जो ये बाद में इन्होंने जो कही वो कहना चाह रहे हैं कि सहायता का मिलना ये कुछ जगह तो महर्षि ने लिखा है लेकिन सब जगह नहीं लिखा है और विशेष रूप से जो इन्होंने उद्धृत किया आर्योदेश रत्नमाला में प्रार्थना के बारे में लिखा फिर प्रार्थना का फल शीर्षक अलग दिया और वहां चार लाभ बताए उसमें निरभिमानता आत्मा में आर्द्रता और गुण ग्रहण में पुरुषार्थ उत्साह और प्रीति आत्मा का अभिमान का नाश आत्मा में आर्द्रता गुण ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यंत प्रीति का होना प्रार्थना का फल है यद्यपि इसमें हमारी वो बात भी जुड़ी है कि स्तुति से प्रीति बनती है स्वामी महर्षि अधिकतर तो वो ही लिखते हैं लेकिन ठीक है प्रार्थना से भी प्रीति वाली बात हम निकाल सकते हैं हो सकती है तो ये प्रार्थना का फल जो कहा है यहां सहायता का मिलना इन्होंने नहीं कहा तो इस विषय में तो एक समाधान है कि ठीक है यहां नहीं कहा लेकिन मैसी के दूसरे वचनों में ईश्वर से सहायता की बात लिखी है उसको हम स्वीकार कर सकते हैं इसी के ऊपर वाले में जो प्रार्थना है अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्यवान मनुष्य से सहाय लेने को प्रार्थना कहते हैं तो सहाय लेना वहां पर साथ में है नीचे भले ही नहीं आया है तो उसको तो हम स्वीकार कर ही सकते हैं तो इतने मात्र से ईश्वर की सहायता वाला अंश हम हटा नहीं सकते कि यहां नहीं कहा है वो वो हम मान करके चलते हैं अब हमें ये देखना है मुख्य बिंदु विचारना है कि ईश्वर की सहायता क्या हो सकती है और किस रूप में हो सकती है इस पर अगर कोई और कहना चाहते हो और उस बिंदु पर एक और मैं कह देता हूं थोड़ा सा जो आप यूं कह रहे थे कि भाई पुरुषार्थ करते हुए और पुरुषार्थ के पहले भी प्रारंभ में भी जैसा इन्होंने कल ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वाला प्रसंग बताया महर्षि का उन सब संदर्भों में हम पूर्ण पुरुषार्थ की स्थिति भी देख सकते हैं एक पूर्ण पुरुषार्थ वो है कि वो कार्य हमने पूरा कर लिया एक एक हम जब हम कार्य कर रहे हैं उसमें जहां बीच में है बीच में भी जो जितना करना चाहिए वो हम पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं कार्य भले ही पूरा नहीं हुआ है लेकिन हमारा पुरुषार्थ पूरा चल रहा है और उस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं इसी तरह कार्य के प्रारंभ में जो जो सज्जा करनी चाहिए पूर्व सज्जा तैयारी वो सब हमने की है उसका पुरुषार्थ किया है और कार्य अब प्रारंभ किया है तो भले ही कार्य बाद में करेंगे और वो पुरुषार्थ शेष है लेकिन कार्य प्रारंभ करते समय जितना पुरुषार्थ होना चाहिए था वो सब हम कर चुके हैं तो चाहे अंत में हो कार्य के चाहे बीच में या प्रारंभ में वहां सब जगह पूर्ण पुरुषार्थ वाली बात को हम उतने उतने अंशों में ले सकते हैं और वहां भी सहायता की बात को स्वीकार कर सकते हैं बोलो वो तो दोनों हटा दिया हट गए हट गए वो दोनों घटनाएं तो मैंने हटा दी वो घटना किन प्रयोजनों से मैंने बोली थी वो मैंने आपको बताया लेकिन ये पूर्ण पुरुषार्थ वाली घटना है ऐसा मैं प्रतिपादित नहीं कर रहा हूं कोई भी घटना ले लीजिए जो जहां पूर्ण पुरुषार्थ सिद्ध है उसके बाद में तो हाँ तो सहयोग मिला वो चीज मैं उस प्रार्थना की बात कर रहा हूं जो कि वो कामना है कामना वाली जो प्रार्थना है जो हमारे कर्माशय के अनुरूप मिलती है हमारे कर्माशय के अनुरूप जो मिलती है वो कामना वाली प्रार्थना उसमें भी वो बात घटती है कि ईश्वर किसी के माध्यम से किसी को प्रेरणा उसने ऐसी की फिर वो स्वतंत्र है दे या न दे और फिर वो अपनी स्वतंत्रता से निर्णय लेके आया और उसने सहयोग कर दिया हमारे को इस रूप में वो नहीं तो किसी दूसरे को दूसरे नहीं तीसरे को किसी को अनेकों को वो करेगा और कोई ना कोई ऐसा पात्र या जिसको उसको संभावना लगेगी ये कर सकता है वहां वो केवल प्रस्तुति केवल करेगा कर्म की स्वतंत्रता उस व्यक्ति की फिर भी है ना भी करे वो तो बाधा कारण भी हो जाए तो वो तो वहां भी घटता है उसको अभी हम हटा के रखते हैं ये वाला बात है अब मुद्दा है कि परमात्मा की सहायता किस रूप में होती है या तो विज्ञान आदि के रूप में स्वयं में अथवा अन्य के भी माध्यम से और अन्य के माध्यम से उनमें प्रेरणा और फिर वो स्वतंत्र निर्णय लेके हमारे को सहायता कर रहा है इस बिंदु पे और किन्हीं को कुछ कहना है तो पूछना है या कहना है पहले जिनको कहना है कोई पक्ष बताना चाहते हो दृष्टि की भाई इसमें ये बात होनी चाहिए श्रीवास्तव जी प्रश्न है आपको कुछ कहना है बोलिए उसमें प्रश्न करते हैं कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए तो उत्तर देते हैं कि अन्य उत्तरों के अलावा इसमें पूरी सम्मिलित है प्रार्थना से पश्चाताप होता है और आगे वो पाप वासना का बल घटता जाता है यानी ये एक अतिरिक्त बात आप कह रहे हैं पूना प्रवचन द्वितीय प्रवचन ये जो प्रार्थना है ये दूसरे ढंग की है थोड़ी ये पश्चाताप और दोषों का निवृत्ति ये दोषों को हटाने के संबंध में की गई प्रार्थना है नहीं है लेकिन जो उत्तर आया है महर्षि का उससे ऐसा लग रहा है ये वो प्रसंग है कि हम पुरुषार्थ करके पुरुषार्थ को मैं जोड़ रहा हूं यहां पर पुरुषार्थ करके और अपने किसी दोष को हटा नहीं पा रहे पूर्ण पुरुषार्थ भी किया हटा नहीं पा रहे अब हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से तो प्रार्थना करते हुए हमारे मन में पश्चाताप भी उत्पन्न होगा कि देखो मैं नहीं कर पा रहा हूं और फिर वो दोष को दूर करने में पाप वासना का बल घटता जाता है इसमें ईश्वर से सहायता आई है वो सीधे सीधे शब्द नहीं है जब हम प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में तो पश्चाताप होता है और चूंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये हटे तो एक अच्छा संस्कार मन पे डाल रहे हैं इसलिए पाप भावना का बल संस्कार का बल वो क्षीण होगा ही अवश्य ये परमात्मा से निरपेक्ष भी हो सकता है जैसे कि यहाँ प्रार्थना से निरभिमानता आदि जो चीजें आ रही हैं वो परमात्मा की सहायता से निरपेक्ष भी हो सकता है ये तो परमात्मा की प्रार्थना करने से ऐसा होता है वो दो ढंग से हो सकता है एक तो हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करने के कारण हमारे में ऐसा आ रहा है परमात्मा नहीं कर रहा है लेकिन ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है कि हमारी प्रार्थना के बाद परमात्मा हमारी सहायता करता है वो यहां शब्द नहीं है हम्म। अपने सामर्थ्य के संबंध से जो ज्ञान आदि प्राप्त होते हैं ज्ञान आदि प्राप्त करने समय में ये सत्योपदेश है उसको करना ईश्वर के संबंध ईश्वर से संबंध रहने पर ज्ञान विवेक और सुख मिलता है और संबंध नहीं रहने छूट जाने पर रजत समझ का प्रभाव पड़ता है उनसे लौकिक वृद्धि लौकिक ज्ञान लौकिक वृद्धि बनती है लौकिक ज्ञान से व्यक्ति गिर जाता है और अधर्म अन्याय आदि पाप करने पर भी होकर छूट छुट्टी हो अंधकार में डूब जाता है यानी कि ज्ञान और विवेक मतलब सत्य असत्य को भेदने वाला ज्ञान भी प्राप्त होता है वो बात आ चुकी जो विज्ञान आदि की प्राप्ति है लेकिन आप जो सत्योपदेश का वचन बोल रहे हैं वो सीधे प्रार्थना से जुड़ी हुई बात नहीं है ईश्वर से संबंध की बात है जब हम जब हम ईश्वर से संबंध रखते हैं तो ऐसा ऐसा होता है ठीक है ये संबंध प्रार्थना के समय भी हो सकता है स्तुति के समय भी हो सकता है वो कभी भी हो सकता है ईश्वर परिधान की स्थिति में भी बिना प्रार्थना के भी ईश्वर से संबंध बना रहता है वहां ईश्वर से ज्ञान बल आनंद प्राप्त होता है ठीक है वो सीधे प्रार्थना वाला कथन नहीं है पर ये महर्षि का वचन जो यहाँ पर है ये प्रार्थना से संबंधित है उसमें बोलिए तो और जो कामना की सहायता मिलती है तो उसमें कर्माशय से जो सहायता मिलती है तो जो हम जो प्रार्थना से जो सहायता की जो बात कर रहे हैं तो उसमें भी इस बात को सोना तो हम दे सकते हैं कि जो सहायता अतिरिक्त जो मिल रही है वो भी तब मिलेगी जब हमारा कर्माशय होगा पूर्ण प्रसाद के बाद जब हमने प्रार्थना की तो उस प्रार्थना का अतिरिक्त जो फल मिलेगा वो भी तभी मिलेगा जैसे हम कामना में ले रहेंगे आ गया प्रश्न आपका आपका प्रश्न इनका प्रश्न ये है कि कामना वाली जो प्रार्थना है उसका फल तो हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे कर्माशय के अनुरूप मिलेगा और ये पूर्ण पुरुषार्थ के बाद वाली जो प्रार्थना है ईश्वर की सहायता मिलती है इसको भी हम क्यों ना मान लें कि ये भी कर्माशय के अनुसार ही मिलती है उसमें क्या दोष आ रहा है ये आपका प्रश्न इस पर कल भी चर्चा हुई थी मैंने बात रखी भी थी कि ये जो महर्षि की वाक्यावली है पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत तो पूर्ण पुरुषार्थ किया उसका जो फल मिलेगा वो तो कर्माशय के अनुसार मिलेगा ही ये जो अतिरिक्त चीज कही जा रही है ये कर्माशय से मिल रहा है ऐसा नहीं कहना चाहिए ये इससे प्रतीति नहीं हो रही है वाक्य से इससे ये लग रहा है जो श्रीवास्तव साहब ने भी जो कहा बात रखी थी कि प्रार्थना को भी एक कर्म मान लें उससे कर्माशय बनेगा उस संदर्भ में भी मैंने बात रखी थी ये कर्माशय निरपेक्ष सहायता इस वाक्य से पता लग रही है यदि कर्माशय वाली ही होती तो वो भी हमारे पुरुषार्थ में ही आ जाती है ये पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत कुछ और ये किया जा रहा है और इसमें ईश्वर की कर्म निरपेक्ष सहायता हमारे को देखनी चाहिए नहीं तो वो चीज तो पहले से जो मैं बात रखी थी उसी तरह से सारी बातें बोली हुई हैं लेकिन ये अंश अलग से लेना चाहिए और कोई स्वामी मुक्तानंद जी जो तो निष्कर्ष जैसा कुछ ऐसा लग रहा है जो प्रस्तुत हुआ है अभी उसमें कहीं त्रुटि दिखाई देती हो कि भाई इसको थोड़ा सा और होना चाहिए ये कुछ सिद्धांत विरुद्ध बात जा रही है या कुछ और परिष्कार के लिए कोई विचार आता हो तो स्वागत है कोई प्रश्न भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं अभी पूछे असफलता जी हाँ ये उसमें अंतर्भावित है यद्यपि शब्द नहीं है वहां पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में यानी वो पूरा सफल नहीं हो रहा है लेकिन जी हाँ ये तो अंतर्भावित है वहां पर बिल्कुल ठीक है सत्यव्रत जी जैसे ने वेद आदेश वो वो, वो आदेश

कि वेद में प्रार्थना का आदेश दिया गया है तो प्रार्थना को भी एक कर्म माना जाए जो भी मानसिक वाचनिक जो भी है उसको भी एक कर्म माना जाए और कर्म माना जाए तो जो इन्होंने कहा नहीं है लेकिन अभिप्राय इनका है तो फिर उससे भी कर्माशय बनेगा और उसके कर्म का फल माना जाए देखिए वेद में बहुत सारी बातें लिखी हैं ठीक है हम भोजन बनाते हैं खाते हैं वो कर्म है उससे भी कर्माशय बनता है कैसे खाते हैं क्या खाते हैं जैसे हम सामान्य भोजन खाते हैं मैं अकेला व्यक्ति हूं मैंने अपने लिए खाना बनाया आटा लाया सब्जी लाया जो भी करना था गुदगात के रोटी बनाई और खा ली इससे ये कर्म तो है ना और ये ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप है ये विपरीत है हाँ ना बोलो अभी केवल सात्विक है मैंने रोटी और आटा, आटा और सब्जी ही बोली <laughs> बस मांस अंडा नहीं बोला है मैंने सादा भोजन ये सात्विक ही है मिर्च मसाले भी नहीं बोले मैंने सात्विक भोजन ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप हमने भोजन किया क्या इससे हमारा कर्माशय बनेगा क्यों नहीं बनेगा अब मैं आप वाले तर्क आप पे पूछूंगा पूछा मैंने ये कर्म है या नहीं है है ईश्वर की आज्ञा है या नहीं है तो क्यों नहीं कर्माशय बनेगा <laughs> वही जो उत्तर आप दोगे वही उत्तर मैं दूंगा आपके प्रश्न का <laughs> नहीं ईश्वर से संबंध भी मान लिया चलो एक साधक व्यक्ति भोजन बना रहा है ठीक है <laughs> मुक्ति की प्राप्ति के लिए बना रहा है कि मैं प्रभु मैं पूरा ईश्वर प्रणिधान के साथ बना रहा है ईश्वर से संबंध जुड़ा हुआ है तब क्या वो कर्माशय में जाएगा तो क्यों का उत्तर दे दो बस मेरे को नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा नहीं जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते हैं ईश्वर से संबंध भोजन करते हुए भी जोड़ा जाता है हम मंत्र पाठ भी करते हैं भले ही मानसिक कर्म है और शारीरिक कर्म भी है भोजन भी कर रहे हैं नहीं ये अलग बात है अब ये जाति का प्रयोग शुरू हो रहा है देखो <laughs> न्याय दर्शन का मैंने कहा कि भाई संबंध भोजन करते समय जोड़ा जा सकता है बोले ये संबंध तो बिना भोजन करते समय भी जोड़ा जा सकता है <laughs> भाई बिना भोजन करते समय भी जोड़ा जा सकता है उससे इसका खंडन थोड़ा हो गया कि भोजन करते समय संबंध नहीं जोड़ा जा सकता वो एक अलग बात है नहीं नहीं भोजन करते समय हम संबंध जोड़ सकते हैं आप पूरी आध्यात्मिकता से अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए मुक्ति प्राप्ति के लिए स्नान भी कर सकते हैं भोजन भी कर सकते हैं ईश्वर से संबंध तो जुड़ा रहेगा उसको तो नकार नहीं सकते लेकिन फिर भी इससे कर्माशय नहीं बनता जो एक प्रश्न पहले भी था आपके बात सामने संकेत मिली जिस पे कि सोमदेव जी से मेरा प्रतिपक्ष है कि जब तक हम परोपकार या परापघात नहीं करते हैं ये हमने भोजन किया अपने लिए किया इससे कोई पुण्य कर्माशय नहीं बनेगा कर्माशय नहीं बनेगा क्योंकि इस पर हमने किसी का परोपकार नहीं किया हाँ भोजन खाने के बाद में स्वस्थ रह करके हम जब दूसरे का कुछ उपकार करेंगे अब कर्माशय बनना शुरू होगा दूसरे को रोटी देंगे कर्माशय होगा दूसरे को भोजन कराएंगे कर्माशय बनेगा लेकिन स्वयं अपना भोजन करेंगे कर्माशय मेरी समझ में तो अभी तक ये बात नहीं आई है ऐसे नहीं मान सकते तो जैसे ये है ऐसे ही वहां पर भी हम ले, ले सकते हैं कि जिससे परोपकार और प्रापघात होता है प्रार्थना हमने अपने लिए की है प्रार्थना से सहायता मिले निरभिमानता आए वो सब लाभ होंगे लेकिन उससे कर्माशय बने ये वाली बात अभी विचार के योग्य है बोलिए ये नया विषय मत उठाओ अभी रोगकार पर आपघात का इस पे चर्चा करेंगे वेदनिष्ठ जी ने प्रश्न दे रखा है कि जी कर्मफल व्यवस्था को विस्तार से और सारा चर्चा करें उसमें फिर वो आएंगे अभी केवल इस पे कुछ और बोलना हो नहीं तो अपन विचार इतना रखते हैं और विचार कर लीजिएगा और कुछ इसमें उहा होती हो और कुछ निष्कर्ष निकल सकते हैं तो हम और बात कर लेंगे स्वामी मुक्तानंद जी कुछ कहना चाहेंगे वो एक नया प्रश्न है इनका प्रश्न है कि प्रार्थना और याचना दो अलग अलग शब्द पढ़े तो अलग अलग अर्थ भी होना चाहिए उसका एक सामान्य उत्तर तो कल भी मैंने बोला था और याचना में दीन भाव अधिक रहता है और प्रार्थना में दीनता का भाव कम रहता है तो बिना पुरुषार्थ किए और प्रार्थना पुरुषार्थ पूर्वक तो याचना मतलब तो कामना फिर ये अर्थ हुआ उसका वो कामना वाली हो गई कामना और याचना में भी अंतर है देखो याचना मांगना होता है जैसे कामना और प्रार्थना में भिन्नता थी वैसी ही कामना और याचना में भी भिन्नता है और प्रार्थना और याचना एक जैसे से होते हुए भी भिन्नता जो मुझे जैसा हम लोग अर्थ लेते हैं इन शब्दों का प्रयोग शाब्दिक अर्थ जो भी हो वो अधिक दीनता हीनता की स्थिति में जो मांगा जाता है उसे याचना कहते हैं याचना में प्रार्थना से अधिक झुकना होता है प्रार्थना में उतना झुकना नहीं होता उसमें भी झुकते हैं लेकिन याचना में गिड़गिड़ाना जिसको वो प्रार्थना वैसे स्वामी जी ने गदगद शब्द वो बोलते हैं स्तुति करें प्रार्थना करें एक याचना में गिड़गिड़ाहट रहती है नहीं दीजिए अनुनय विनय अधिक होती है दीनता अपनी अधिक प्रदर्शित की जाती है प्रार्थना में वो नहीं रहता है कम रहता है वो सत्येंद्र जी आवेदन निवेदन शब्द जो है केवल आपसी व्यवहार के लिए प्रार्थना है है प्रार्थना ये शब्द केवल परमात्मा के लिए नाम नहीं देखो ये तो अभी जो परिभाषा पढ़ ही रहे थे स्वामी जी ने खुद ने लिखा परमात्मा या अन्य बड़ों से समर्थ से तो वो तो बात नहीं होगी ये शब्द तो परमात्मा के लिए भी हो सकते हैं तो तो भाई आपने अपनी बात को आप दोहरा रहे हो आपके प्रश्न अभी फिर आप दोहराने के प्रयास में ही हो लेकिन आपका जो उत्तर दिया गया वो आपने सुना नहीं और आप वापस वही बात बोल रहे हैं अब देखो <laughs> आप बोलो मैं आपको अवसर दूंगा लेकिन मैं आपको एक संकेत करना चाह रहा हूँ आप कहना चाह रहे हैं आपने एक बात रखी और उसके लिए एक प्रमाण आपको दिया गया लेकिन इन्होंने सुना नहीं वो इनके कान तक गया लेकिन अंदर ये सोच रहे थे मेरे को और क्या बोलना है मैं अपनी बात को पूरा कह नहीं पाया इसलिए ठीक है बोलिए आप तो हम्म ठीक है ये प्र के कारण से आप कह रहे हैं कि प्र अर्थना प्रकर्ष रूप से जो प्रार्थना की जाती है एक मिनट ये आपने शब्द के अनुसार से बात को रखा महर्षि दयानंद के वचन को प्रमाण मानेंगे आप प्रार्थना के अंतर्गत उन्होंने परमात्मा के अतिरिक्त अन्यों से भी प्रार्थना की बात लिखी है बोल के बताऊं ध्यान है आपको अभी पीछे जो बोली थी है ये तो रत्न रत्नमाला वाली है ये कई बार बोली जा चुकी है बात और उसमें ये भी कहा था मैंने कि ये जो अन्यों का है किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य से इसको हम हटा रहे हैं अभी ये भी मैंने बात कही थी क्या है अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य से सहायता लेने को प्रार्थना कहते हैं ठीक है अभी कुछ बोलने का अवसर है तो ये बात तो पहले बोली गई थी समय हो रहा है और इस पे विचार कर लेंगे कल प्रार्थना और याचना मुक्तानंद जी सो मंतव्य मंतव्य ठीक है प्रार्थना वाले में याचना शब्द भी लिखा है प्रार्थना अपने सामर्थ्य के उपरांत ईश्वर के संबंध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उनके लिए ईश्वर से याचना करना और इसका फल निरभिमानता आदि होता है देखिए ये तो वचन आपने बताया जहां प्रार्थना और याचना को एक साथ पढ़ा गया है उनका प्रमाण क्या है महर्षि का ही वचन स्तुति प्रार्थना याचना भाष्य भूमिका का जो शीर्षक है तो ऐसी स्थिति में आप केवल सूचना के लिए तो बता सकते हैं कि भाई यहाँ प्रार्थना और याचना को समान माना गया है लेकिन इससे वो वचन हट नहीं जाता है वहां महर्षि ने प्रार्थना को भी पढ़ रखा है और याचना को भी पढ़ रखा है उनका प्रश्न उस जगह पे आधारित है कि दोनों अलग अलग पढ़े हैं एक ही शीर्षक में तो दोनों का कुछ न कुछ भिन्न अर्थ होना चाहिए इसको देकर के हम भिन्नता को समाप्त नहीं कर सकते ये प्रमाण उसके लिए लागू नहीं हो पाएगा भिन्नता तो कोई ना कोई हमें देखनी होगी तो किसी और को कोई भिन्नता प्रतीत होती हो तो बताएं व्यवहार में जैसा लेते हैं हम लोग तो वो तो गिड़गिड़ाना और याच, याचना में दीनता का भाव अधिक होता है स्वामी जी हाँ उसमें उसमें इनका मत मैं इनकी तरफ से बोल देता हूं कई जने इस संबोधन को भी बहुत आपत्ति करते हैं और उसमें यही तर्क देते हैं जैसे कि संबोधन में कहते हैं कि परम पूज्य जैसा कि आप भी बोलते हैं तो आप अपना वही उदाहरण दे रहे हैं भी परम शब्द तो हम औरों के लिए भी बोलते हैं पर इन लोगों का ये कहना है कि परम तो परमात्मा के लिए ही बोला जा सकता है ये जो हम लोगों के लिए प्रयोग कर देते हैं कि परम पूजनीय परम आदरणीय बोले परम शब्द किसी मनुष्य के लिए नहीं बोला जाना चाहिए ऐसा कई जने बोलते हैं मंच से आप तो बोलते हैं ऐसा और भी कई जने बोलते हैं लेकिन बैठे हुए कई जने मैंने सुना देखो ये परम शब्द बोल रहे हैं इनको यही सिद्धांत नहीं पता है कि परम तो परमात्मा ही होता है परम तो परमात्मा ही होता है इस विषय में मुसलमान हमारे से आगे हैं वो सबसे ऊंचा अल्लाह के अतिरिक्त और किसी को नहीं मानते परम शब्द या ऐसी जो चीजें वो उसी को ही मानते हैं तो उस अभिप्राय से इनका है लोक में जो भी चलता है अभी आपके प्रमाण भी सुन, सुनते हैं सत्येंद्र जी को तैयार होना पड़ेगा <laughs> पक्ष वाद चल सकता है एक पक्ष है अब ये ये वाद की स्थिति बनेगी क्योंकि एक उनसे भिन्न पक्ष वहां पर आ रहा है जी स्वामी जी हाँ, स्वामी महाराज ने वो ये आर्या बिंदु है उसमें यज्जो यज्ञ कलकता मंत्र है उस मंत्र में यह लिखा है कि हे भगवान हम आपकी कृपा से परम विद्वान बने और इसका प्रयोग मनुष्यों के लिए भी किया कर आपकी ये क्या नाम पुस्तिका भी है आध्यात्मिक चरण इसमें भी नीचे में लिखा परम विद्वान और महाराज स्वामी सत्यदेव महाराज ने अपनी पुस्तिका में तो उन्होंने लिख रखे हैं ये कभी मैं पूछ रहा था इस बार कहीं चक्कर में गया तो मैंने अच्छा। देखा किसी चीज के लिए देखिए तो कई विद्वानों ने आपत्ति की तब मैंने उसके बाद स्वामी महाराज के सामने बात रखी तो मैंने कई उदाहरण दिए कि यहाँ आर्या बीवी ने मैं भी महर्षि दयानंद ने अनेक बार यह कहा है कि हे भगवान हम आपकी कृपा से परम विद्वान बने यह परम विद्वान बने मनुष्यों के लिए आया सत्येंद्र जी प्रमाण है स्वामी जी वो प्रमाण है उनका इस विषय में स्वामी जी एक बात कर सकते हैं इतनी कट्टरता भी नहीं हो कि भाई परमात्मा के लिए ही है चूंकि प्रयोग मिल रहे हैं मनुष्यों में सापेक्ष रूप से परम माना जाएगा जहां हम निरपेक्ष परम शब्द की बात करेंगे निरपेक्ष परम वो तो परमात्मा के लिए ही होगा अगर कोई उस ढंग से बोल रहा है और अथवा जिस परिवेश में हम बात कर रहे हैं उसमें हम परम की बात करना चाहते हैं सर्वोच्च या प्रथम की कुछ विशेष परिवेश में या मनुष्य मात्र के लिए भी कर सकते हैं वहां उतने उतने अंश में परम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है ठीक है केवल परमात्मा के लिए ही करें वो अति कट्टरता हो जाएगी आ, आप कुछ बोले तो ठीक है ठीक है अर्थ तो बदल दिया लेकिन वो बात तो आ गई ना कि परम शब्द का प्रयोग परमात्मा के अतिरिक्त मनुष्य के लिए भी किया जा सकता है ये बात आपने सीधे सीधे नहीं स्वीकार की लेकिन आप स्वीकार कर चुके हैं स्वीकार करके ही आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इस अर्थ में लिया जाएगा आपकी बात स्वामी जी सिद्ध हो गई है ये स्वीकार कर ही रहे हैं परमात्मा के लिए भी परम शब्द का प्रयोग करेंगे आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है निरपेक्ष रूप से परम परमात्मा ही है और सापेक्ष रूप से अन्यों को भी तुलनात्मक रूप से ये शब्द का प्रयोग किया जा सकता है अब मेरे ख्याल से इसमें और गुंजाइश नहीं है कुछ और कहने की <laughs> तो इससे परिचर्चा को यही समाप्त करते हैं आज की इस परिचर्चा को और मैं सोचता हूँ कि विषय भी अगर आप लोग कुछ और इसको चलाना चाहेंगे तो इसको और चलाएंगे कुछ कहना हो तो आप बताएंगे नहीं तो फिर अगला विषय इस पर करेंगे कोई सूचना है